इसलिए कि उन्हें जमीन में अपनी बड़ाई का घमंड था और उन्होंने हक की मुखालिफत में बुरी बुरी चालें चलनी शुरू कर दी हालांकि बुरी चालें किसी और को नहीं खुद अपने चलने वालों ही को घेरे में ले लेती हैं अब ये लोग उस दस्तूर के सिवा किस बात के منتظر हैं जिस पर पिछले लोगों के साथ अमल होता आया है अगर ये बात है तो तुम अल्लाह के तयशुदा दस्तूर में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے